तेरग्नि सर्वज्ञ पूरी सर्वत्र प्रशस्या स्तुति करने के योग्य है अन्य कोई नहीं विदर्थेशु यज्ञ और युगों में आपकी टोटल हो जो तुम्हारी स्तुति को छोड़ के अन्य जरादि की स्तुति करता है उसके यज्ञ तथा युगों में विधि कभी सुधे नहीं होता है सहत्य शत्रुओं के समूह के आपकी साधक हो वृद्धि अधुरम अकाल यज्ञ और युद्धों में आप ही रहती हो हमारे शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता पता तो आकर और काम योग्य है आजकल के लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि हम ईश्वर की स्मृति प्रशंसा क्यों करें ईश्वर अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है यदि अपनी प्रशंसा की भूख है ईश्वर में इच्छा है तो घर आनंद स्वरूप परिपूर्ण कैसे माने इन शंकाओं का समाधान हम अपने लिए जिज्ञासुओं के लिए और आक्षेपकर्ताओं के लिए जब तक सुसज्जित नहीं करते तब तक हमारी स्थिति अच्छी नहीं बन सकती प्रश्न है कि ईश्वर की स्तुति गायन क्यों करना चाहिए कभी कभी साधक लोग और दूसरे लोग भी ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर की स्तुति चाहते तो स्तुति के स्थान पर कुछ उल्टा सीधा हो जाता जो वस्तु जो पदार्थ जैसा है वैसा जानना उसकी स्तुति है क्या समझ में जो पदार्थ जैसा है सूक्ष्म गुण हैं उनका वर्णन करना स्तुति है जो पदार्थ के गुण हैं उसमें विशेषताएं हैं उनका गायन करना स्तुति है जो पदार्थ जैसा है उसकी स्तुति को सुनना स्तुति कितनी बार समझा उसको जैसा का तैसा जानना भी स्तुति है यदि ईश्वर को कोई गलत रूप में जानता है तो उसकी निंदा हो यदि ईश्वर है सर्वव्यापक सच्चिदानंद उसको एक देश में आकाश पाताल परम धाम में मानना उसकी स्तुति नहीं निंदा होगी ईश्वर सर्व व्यापक सच्चिदानंद जैसा है वैसा वर्णन करना स्तुति अन्यथा निंदा ईश्वर के विषय में हम सुनते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है कोई दूसरा सुनाता है तो वो क्या है स्तुति है अब जो लोग नहीं जानते वो समझते हैं उनको कई कहा जाए देखो भाई ईश्वर तो ऐसा है ऐसा कहो ऐसा मानो इससे आप आगे बढ़ेंगे वो झट कहते हैं मानने मनवाने की कुछ बात नहीं हम तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं और हमारी श्रद्धा बनी हुई है और ऐसा करने से हमको लाभ अब ये भारतीयों का दिमाग है करोड़ों लोग जो व्यक्ति जिस वस्तु को अशुद्ध अनुचित विपरीत मान के उसका वर्णन करता है उसका दिमाग भी उल्टा हो जाता है किसी अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति को किसी ने पढ़ा दिया सुना दिया कि दिल्ली का लाल किला साढ़े तीन हाथ की झोंपड़ी के बराबर है क्या सुनिए उसने वर्णन कर दिया उसने कहा ठीक है बड़ा पुराना है ऐतिहासिक है जगह उसने सुन लिया और उसमें बार बार सुनता रहा वो दिल्ली का हजार साल किला इतना लंबा इतना इतना लंबा वो सुना ध्यान दिया वो सोचता है भारत जाऊंगा मैं अथवा इसी को देखूंगा मैं और दिल्ली का लाल किला इतना लंबा इतना चौड़ा है अब वो चलता चलता कहता सुनता 20 वर्ष भले ही हो गए हूं तो दिल्ली के लाल किले की बुद्धि तो नष्ट होगी और दिल्ली का लाल किला जो नहीं था वैसी बुद्धि बनी हाँ, सभी जगह और ईश्वर सर्वव्यापक ये चौथे स्मान पर ये सातवें स्मान पर ये कैलाश पर्वत में ये परम धाम में गीत गाता फिरता है इनकी सबकी रुचि उल्टी होती और कोई समझाए कहे भाई बहनों सुनो ऐसा मत करो ऐसा ईश्वर नहीं है ऐसा ईश्वर नहीं मिलेगा ऐसा मत करो वो न सुनने के लिए तैयार और बताने वाले व्यक्ति को एक गाली नहीं माना जाता है कि भारत के लोग बड़े ईश्वर भक्त उपासक हैं और विदेशों में लोग बताया जाता है लोग एकदम मानते हैं भारत से आया तो योगी हो गए और भारत के अंदर झूठे योगी छली कपटी लोगों ने जो है जा जा करके और विदेशी लोगों का ऐसा दिमाग बना दिया ये छली कपटी व्यक्ति धन इकट्ठा करने के लिए आया ये अशुद्ध उल्टा ईश्वर को जानने मानने और उसका अनुचित लाभ उठाने की स्थिति में स्थिति पैदा हो गई अब दूसरा अंश लेते हैं ईश्वर की स्तुति क्यों करें ईश्वर की स्तुति इसलिए करनी चाहिए कि ईश्वर ने हमारा सदा उपकार किया है ईश्वर आज भी हमारा उपकार करता है और अनंत काल तक उपकार करता रहेगा तो क्या उस उपकार करने वाले व्यक्ति का हम गुणगायन न करें क्या संसार में कोई बुद्धिमान ऐसा है किसी के द्वारा उपकार किया जा रहा हो बार बार बिना किसी स्वार्थ के और उसको वो ये न कहे कि आपने मेरा महान उपकार किया है आपने मुझे विविध सहायता दी क्या ये बुरा है बोलो अपने हृदय पर हाथ रखो माता पिता ही देखो अध्यापक गुरु आचार्य ही देखो यदि आपने उसको किसी बालक बालिका को महान बनाया पढ़ाया लिखाया लाखों रुपया खर्च किया अपनी कामना कोई नहीं मेरा पुत्र महान बन जाए इन भावनाओं से होते हुए भी क्या आप ये चाहेंगे कि मेरा पुत्र पुत्री मुझे ये कुछ भी न कहे नाम ही नहीं ले कहीं मेरा इसने भला किया ऐसा चाहेंगे या ये चाहेंगे कि भाई मेरा नाम तो लेना ही चाहिए ये तो सच्चाई है कम से कम क्या चाहेंगे आप बोलो दूसरी बात माता पिता सोच सकता है जो योगी ना हो कि मैंने अपने कुछ भले के लिए कुछ संसार के लिए बेटे को तैयार किया पर ईश्वर ने क्या क्या स्वार्थित किया था तुम ये बता मनुष्य के उदाहरण में तो ये कमी मिल सकती है कि भाई मनुष्य को मनमाई हो कुछ मेरा भला करेगा कुछ समाज का करेगा और अधिक स्वार्थी होगा तो वो क्या करेगा अपने लिए सोचेगा तो ईश्वर ने क्या सोचा है हमारा भला करते हुए उसने कहा जी हम हमने कर्म किए ईश्वर ने हमको फल दे दिया उसने किया ही कुछ भी नहीं किया ठीक है ना ये हमने कर्म किए और ईश्वर ने हमको फल दे दिया हमारा क्या भला किया उत्तर ढूंढो अब चुपचाप रह गई अब उत्तर ही नहीं है तो फिर क्या उत्तर दोगे नास्तिक को वो स्पष्ट बात करो बिना ईश्वर की सहायता के हम फल को प्राप्त नहीं कर सकते साफ बात बोलो घूंगे की तरह बैठे क्या नहीं कर सकते हम ईश्वर की सहायता के बिना हम फल प्राप्ति का उपभोग नहीं कर सकते आप दौड़ लगाइए और आगे बढ़ोगे तो परिणाम निकलेगा बिना परमात्मा की सहायता के बिना कुछ भी कर्म नहीं करेगा ईश्वर की बिना सहायता के आज तक किसी ने कोई कर्म नहीं उसको ध्यान रखना स्वतंत्रता ईश्वर ने दे दी उन्हें कहा कि मोक्ष को प्राप्त कर व्यक्ति वो चोरी करता है डाके मारता है ये वो स्वतंत्रता का परिणाम है स्वतंत्रता से उल्टा सीधा कर सकता है वो ईश्वर को प्रेरित नहीं करता पर वो आंख नाक हाथ पैर और ये शरीर किसने दिए ईश्वर ने दिए उल्टा करे सीधा करे अलग बात है फिर कोई भी व्यक्ति संसार में ज्ञान कर्म उपासना ईश्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकता और फिर उसका फल लौकिक हो योग का फल हो बिना ईश्वर की सहायता के बिना कोई घूम नहीं सकता आपको आंख ने दे ईश्वर नाक ने दे और जीवा ने दे त्वचा ने दे भी आप कलवा खीर पूरी खा सकते हैं क्या नहीं खा खा के दिखाओ कोई खा सकता हो तो। बिना रचना के आनंद लेके देखो क्यों नहीं पता चल जाएगा आपको और सुनो जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं प्रशंसा करते हैं तो हम उन गुणों को अपने अंदर लाना चाहते हैं जो व्यक्ति जिसकी स्तुति करता है वो वैसा ही बनना चाहता है क्या सुन माया बोलो बोला करो बुद्धि से काम लिया करो सूर्य गुणों को हम अपने अंदर उतारना चाहते हैं जिस समय जो व्यक्ति जिस पदार्थ की प्रशंसा करता है वो व्यक्ति उन गुणों को अपने अंदर लाना चाहता है धारण करना चाहता है तभी आप देख सकते और जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे तो ईश्वर आनंद स्वरूप है ईश्वर ज्ञान स्वरूप है ईश्वर बल स्वरूप है तो हम उसके इन गुणों को अंदर लाने का प्रयास करेंगे परिणाम हम उस जैसे बन जाएंगे पूरे उस जैसे नहीं किंतु उस जैसे बन जाएंगे क्या समझ में आया नहीं आया क्या बनेंगे वही बात कहा आपने तो मैंने कही नहीं पीछे बैठा ये वैज्ञानिक बात है युक्त है प्रमाण सिद्ध है कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयोग करते हुए लोक में देखा देखा जाएगा चाहे ईश्वर को माने चाहे ना माने वो ऐसा ही मिलेगा तो इसलिए ईश्वर की स्तुति करने से जो क्या क्या लाभ होते हैं ये प्रसंग पढ़ना हो तो सत्यार्थ प्रकाश के सातवें सिमुलास में पढ़िए स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए उसके बिना क्या हानि हुई एक बात और रह गई वो ये रह गई कि ईश्वर क्या अपनी प्रशंसा करवा के सुखी होना चाहता है फिर क्यों कहता है कि मेरी स्तुति करो इसलिए ईश्वर कहता है मेरी स्तुति करो प्रार्थना करो वो इसलिए कहता है कि मेरे गुण इनमें आएंगे और ये कृत कृत्य हो जाएंगे इसलिए ईश्वर कहता है कि मेरी स्तुति करो प्रार्थना करो उपासना करो इसलिए कोई दोष नहीं आता जो ये आक्षेप करते हैं अपनी प्रशंसा के लिए क्यों कहता है और ये जो लोग कहते हैं स्तुति क्या करें काम करते रहेंगे स्तुति से क्या लाभ काम करते रहेंगे श्री वो ऐसा कहते तो ध्यान दो स्तुति भी एक काम है क्या है स्तुति भी जो स्तुति नहीं करता वो अक्रमण्य है उसने स्तुति नहीं की तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया ये भी एक काम है अच्छा अन्य कार्यों के लाभ हैं तो इसके भी लाभ हैं जब तक आप ऐसे समाधान नहीं कर सकते निश्चिंत होगी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं कर सकते और इस की स्तुति प्रार्थना के बिना विद्वान योगी योगा नहीं बन सकते समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते इसलिए बातों को समझना चाहिए और ऐसे करना चाहिए अब ग्राम व्यक्ति निराश हुआ कहीं और किसी आश्रय पर वो जा नहीं पाता आश्रय नहीं मिलता उस स्थिति में उस आपत्ति काल में अथवा किसी विश्वासघात के होने पर किसी हानि के होने पर अथवा योगाभ्यास में सफलता न मिलने पर तो परमात्मा से क्या कहता है कवि के शब्द मिलके बोलना नहीं तो सुनना सुर को मिलाओ माताएं बेसुरा बोल रही सुर में मिलाओ या सुन ठोकर आया रे वो तो जिंदगी है तेरे हवाले अब तो जिंदगी है तेरे हवाले तेरे सादानी नहीं है जो